खुदा का फजल है मैं भी हर तरह आफियत से हूँ फिरदोस बहन मुझे आपसे एक शिकायत है और ये शिकायत आपकी और मेरी दूसरी सहेली जरीना को भी है मेरी प्यारी बहन वो शिकायत क्या है ज़रा बताओ तो सही फिरदोस बहन वो शिकायत यह है कि गुज्त हफ्ता शफिया आपी के यहाँ जो मुलाकात हुई थी उसमें आप भी आई थी मैं और जरीना आपके सामने कुर्सी पर बैठी रही लेकिन आपने कोई इल्तिफात ही नहीं किया ओफो कुलसुम उस दिन मेरे सामने वाली कुर्सी पर आप ही बैठी हुई थी वल्लाह मैं बिल्कुल नहीं पहचान पाई थी फिर दोस्त बहन बचपन की सहेली आना पहचानना ये कैसे हो सकता है कुलसुम बहन सच्ची बात यह है कि मैं उस दिन आपको आपके मेकअप की वजह से नहीं पहचान पाई थी ये क्या बात कर रही है आप क्या मेकअप की वजह से हम बदल गई थी हाँ बहन बात यही है आजकल की औरतें इस जिस तरह मेकअप कर रही हैं उससे उनको पहचानना मुश्किल होता है फिर दोस्त बहन क्या मेकअप वगैरह करना शरीयत में मना है कुलसुम बहन मेकअप के मायने आते हैं बनना सजना सुवरना और यह सजना सुवरना सिर्फ शोहर के लिए होता है लिहाजा शोहर के सामने जायज़ है किसी भी तरह की मुलाकात ब्याह शादी वगैरह में चूँकि अक्सर व बेशतर औरतें मेकअप करके जाती हैं उनका ये बनना सजना शोहर के लिए नहीं होता है इसलिए मुलाकात में जाने के लिए मेकअप करना जायज़ नहीं है फिरदोस बहन क्या शोहर के लिए हर तरह का मेकअप कर सकती है जी हाँ शोहर के लिए हर तरह का मेकअप जायज़ है इतना ज़रूर है कि मेकअप में वो चीज़ें इस्तेमाल ना करें जो वज़ू को पानी जो वज़ू जो वज़ू में धोने जाने वाले अजा पर असरअंदाज हो जैसे नाखून पालिश या इसी भी तरह की कोई दूसरी चीज़ जो पानी को खा तक पहुँचाने में रुकावट बने फिरदौस बहन मैं आपकी बात अच्छी तरह समझ नहीं पाई मुझे ये बताइए कि वज़ू और नाखून पॉलिश का क्या ताल्लुक है अरे बहन उसका मतलब तो बिल्कुल साफ है वज़ू में जो धोए जाने वाले अज़ा हैं उनमें से कोई अज़ू भी वज़ू करते वक्त खुश्क नहीं रहना चाहिए ताकि बाल के बराबर भी कोई जगह ऐसी रह गई हो जहाँ पानी नहीं पहुँचा हो तो वज़ू नहीं होगा अब आप कुछ सोचिए नाखून पालिश लगाने से वजू नाखून पालिश लगाने से ना, पानी नाखून तक नहीं पहुंचेगा पा, जब पानी नाखून तक नहीं पहुंचेगा तो वज़ू नहीं होगा और जब वज़ू नहीं होगा तो नमाज कहाँ से होगी फिरदोस बहन क्या आपके पास सजने और संवरने का कोई दूसरा तरीक़ा है जी हाँ अपनी सैरत को संवारिए अपने अखलाक को आरास्ता कीजिए अपनी ज़िंदगी को हसन करदार का आईना बनाइए फिरदोस बहन आज आपके साथ मुलाकात बड़ी सूदमंद रही और दिन की बहुत सारी मालूम हासिल हुई और मालूम हुआ कि फैशन परस्ती बहुत बुरी वबा है उससे हर मुसलमान औरत को बचना चाहिए मैं चाहती हूँ कि इस अजीम जलसे में आप इस मौजू पर ज़रा तफसली गुफ्तु करें ताकि औरतें इस इस वबा को अच्छी तरह समझें और फिर उससे बचने की कोशिश करें हाँ ये बात ठीक रहेगी लेकिन मैं इस मौजू पर तफसली गुफ्तु नहीं कर सकती उसके लिए बड़ी औरत को बुलाना चाहिए फिरदौस बहन मैं इस वक्त सबसे बड़ी आप, जानने वाली आपको समझती हूँ क्या लिहाजा आप ही इस मौजू पर तफरी गुफ्तु करें प्यारी बहन ऐसी बात नहीं है मुझसे बहुत बड़ी औरतें खुद इस मजमा में भी मौजूद हैं मैं ऐसी ही एक बड़ी औरत को जो तकवा और तहारत में बेशुमार हैं मैं उनको दावत देती हूँ कि वो स्टेज पर आए और इस मौजू पर इस जारी मौजू पर तकरीर फरमाए मोहतरमा जाहिदा तशरीफ़ लाइए माशाल्लाह आओ आओ जाहिदा मोहतरमा तशरीफ़ लाओ फैशन परस्ती के बारे में बताओ असलकम वरहमल वबरक अलहमदिल्ला अलहमदिल्ला व वकफ़ा وسلام على عباده الذين اصطفاه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها منها وليضربن وليضربن بخمرهن على جيوبهن صدق الله العظيم قابل एहतराम सदर जलसा और प्यारी माओं और बहनों आज की इस मुबारक और पुररौनक महफिल में मुस्लिम मुस्लिम खवातीन के अंदर तेज़ी से फैलते एक मर्ज की तरफ तवज्जो दिलाना चाहती हूँ ये मर्ज बड़ा हिला करने वाला है अगर ये मर्ज का इलाज ना किया गया तो मुझे डर है कि पूरी मुसलमान औरतों को अपने लिपेटे में ले लेगा और मुसलमानों को जैसे खात्मा कर देगा यह हिला करने वाली बीमारी फैशन परस्ती है इस वबाई बीमारी ने पूरे मुस्लिम माशरे का अहाता कर लिया है मेरी माएँ और बहनें इस आफत में ज़्यादा मुबतला हो गई हैं और चूँकि आज मेरी मुखात खुवान हैं इसलिए मैं भरपूर तरीके से अपनी मुसलमान औरतों को इस तकलीफदा बीमारी और रूह को फना करने वाली वबा के नुकसान और तकलीफ़ों से वाकिफ़ कराऊंगी दुआ कीजिए अल्लाह ताला अपनी मर्जी के मुताबिक कहने और उस अमल करने की तोफ़ी अफवा फरमाए हमारी माओं और बहनों ने इस्लाम का लुबादा उतारकर मगरूबियत का लुबादा ओढ़ लिया है आज उनको इस्लाम की बेटी कहलवाने बजाय मगरिब की बेटी कहलवाना ज़्यादा पसंद है फैशन पर फैशन और फैशन और मगरबियत से वाबस्तगी व दिल व दिलदादगी का ये आलम है कि इस्लाम के अहकाम को वो पूरे तौर पर नज़रअंदाज कर चुकी हैं फैशन परस्त की इस बीमारी ने मुसलमानों का मुसलमानों को मुसलमानों की खातिन को रूह से खाली कर दिया है आज वो मेरी माएँ और बहनें जो मगरब ज़दा या फैशन भेजा हैं वो अपने आप को बनाने और सवारने में शोहर और मर्दों की गाड़ी कमाई को बेजा तौर पर खर्च कर रही हैं वो अपने कीमती वक्त बनाने वो अपने कीमती वक्त का बेशतर हिस्सा आईने के सामने गुजार देती हैं ऐसी औरतों की निगाह में घर का कामकाज और बच्चों की परवरिश एक बेमाना चीज़ें हैं शोहर और वालदेन की खिदमत एक बेमाना हकीकत है बच्चों की अखलाकी आरस्तगी और उनकी तरबियत के कोई माना नहीं खतीजा और ऐशा के गैरतमंद बेटियों क्या फैशन परस्त और बेहजाबी हमारे खुदा को पसंद है क्या नए नए फैशनों का मुजाहरा हमारे नबी को पसंद था क्या तंग व चुस्त लिबास नबी के अशहब को पसंद था क्या औरतों को मर्दों की रोशन कुरान के मुताबिक है क्या मर्दाना लिबास औरत के लिए हदीस के मुताबिक है मुआज़ खुवान ये सारी चीज़ें खुदा खुदा रसूल और कुरान की मंशा के खिलाफ हैं हदीस शरीफ में ऐसी औरतों पर लानत आई है जो मर्दों का लिबास पहनती है उससे उनके दिल में ज़रा हिचकिचाहट पैदा नहीं होती सच्चों के सच्चे अश्वादिकु वल मुशद्दक पैगंबर आखिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है लानत है उस शख्स पर जो औरतों का लिबास पहने लानत है उस औरत पर जो मर्दों का लिबास पहने मेरी माओ और बहनों इस हदीस से ये बात अच्छी तरह मालूम हो गई है कि वो जीनत और बनाऊ सिंगारी सिर्फ शोहर के सामने इजाज़त है फैशन परस्तों की फैशन परस्त लोगों पर खुदा की लानत है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लानत है जन्नत से दूरी और जहन्नम से और उर्बत है कामयाबी सिर्फ और सिर्फ मुकम्मल तौर पर इस्लाम से वाबस्ता होने में है अल्लाह ताला हम सबको अमल की तोफ़ी अतवा फरमाए आमीन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माशाल्लाह ये पूरा का पूरा मुकालमा था और तीन साथी थे इसमें फैशन परस्ती के बारे में बताया ये सबसे अच्छी बात जो औरतों को भी ज़्यादा मालूम नहीं और मर्दों को भी मालूम नहीं औरतें घर में जिस तरीक़ पर रहते हैं मजलिसों में उसी अंदाज से जाना खसूसी तौर पर सजना जो सिंगारना है वो सिर्फ़ शादीशुदा औरतों के लिए शोहर के लिए सजना और सिंगारना दूसरी औरतें जिस हाल में रहती हैं और अपने आम दिनों में जिस तरह से घरों में रहती हैं उसी तरीके से अपने मेहमानों में पास या रिश्तेदारों के पास जाना क्योंकि सजना और सिंगारना सिर्फ शोहर के लिए होना चाहिए और बेजा सिंगार ये औरतों के लिए और बेजा खर्च है और अपने ईमान को भी ख़राब करना है अल्लाह हमें समझ की तोफीक नसीब फरमाए अब इसके बाद मैं दावत सुखन देता हूँ कौसर बिनते अल्लाह बख्श को और ये आकर ये इनाम उन लोगों के लिए जो फैशन परस्ती के सिलसिले में बात की है और वो तीनों में से कोई आकर अपना इनाम लेकर जाए